Oh. एक विशेष विद्या प्राप्त करने के लिए आए हैं विशेष विद्या की प्राप्ति विशेष परिश्रम से होती है इस विशेष विद्या को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कष्ट उठाने पड़ते हैं उन कष्टों को व्यक्ति दुखी होकर के सहता है दुखी मन से यदि वो कामों को करता है तो विद्या की प्राप्ति नहीं होती दुख होने पर उसको दुखी हुए सहना और एक दुखी होके सहना इन दोनों में अंतर है व्यक्ति रह सकते थे दस और आवे पर वो अपने संबंधी हैं अपने मित्र हैं अपने परिवार के हैं पड़ोस के हैं अब आपको कष्ट तो जरूर सहना पड़ा है पर वो जो संबंधी जब हैं आपके तो वो आनंदपूर्वक कष्ट सह रहे हैं आप या नहीं होता जी उसको सहते हैं आप सुखपूर्वक सह रहे हैं और यदि वो अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो यानी आप रात को नींद नहीं आएगी उनको गाली देते रहेंगे और ध्यान में भी बैठोगे तो वो याद आ गए तो वहां भी पसीना आ जाएगा अब ये पद्धति है एक प्रक्रिया है ऋषियों की बताई जो कष्ट होते हैं आते हैं नहीं आने चाहिए एक बात ठीक है पर आ जाए तो फिर उनको कैसे सहना चाहिए ये एक विद्या है अच्छा जो नहीं सहते वो बहुत दुखी होते हैं और उनके बुरे संस्कार बन जाते हैं अब उस कमरे में जो आएंगे ना दस अपरिचित उनसे आप द्वेष करेंगे गाली देते रहेंगे या मन मन में कहेंगे तो उससे द्वेष के संस्कार बन जाएंगे और वो द्वेष के संस्कार 20-30 वर्ष में वैसे ही वो कमरा याद आएगा और वो व्यक्ति याद आएंगे और उसने मक्खी ने काटा हुआ तो मक्खी याद आएगी पहाड़ी बड़ी मधु की मक्खी कहती भगवान वो न आ जाए कभी तो फिर इसको द्वेष कलेश कहते हैं द्वेष कलेश कहलाता है ये व्यक्ति पिसता रहता है एक बार किसी से खटपट होगी बस उसका छुटकारा पाना बहुत कठिन है उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए गए और वहां पर अपना सत्संग चलता एक पचास वर्ष के व्यक्ति थे वो सत्संग में आते तो उनकी जो धर्मपत्नी थी वो उससे दुखी और व्यंग्यात्मक भाषा में वो बोलती है वहां की खड़ी होके महाराज जी हां इसको सुधारो सुधारो ये सत्संग करता है एक दिन प्रेम से रह नहीं सकता सुधारो इसको हवन करता है सत्संग करता है <laughs> अब वो पति पत्नी के यदि संस्कार बन जाए ना तो योगाभ्यास नहीं कर सकते कभी देश के संस्कार पति पत्नी के बन जाए तो वो पत्थर की लकीर की तरह अंदर बैठ जाएंगे और वो रोया करेंगे आगे चल करके साधना में बैठ के रोता है व्यक्ति बुरे विचार बुरे व्यवहार जब उसको याद आते हैं वो रोता है खूब रोता है इसलिए ये जो अच्छे काम करने में जो कठिनाइयां आती हैं वो नहीं आनी चाहिए कहां तक जबकि हमारे कार्य में वो बाधा नहीं डालती हूं परंतु यदि बाधा नहीं डालनी डालती है तो उनको आना चाहिए आप क्या समझे उर्मिला जी कहती है नहीं समझे इन्होंने तो ऐसे गर्दन ठीक है दी एक रोचक कथा सुनाता हूं ना जी दक्षिण भारत में जाते हैं हम आंध्र प्रदेश में उनसे पूछते हैं भाइयों मैंने बताओ आई समय में या भोजन खा लिया ऐसे चक्कर लगा देते और ये पता नहीं चलता ये हां कर रहे या ना करें तो ये रोचक बात मैंने बीच में सुनाई थोड़ा सा आलस्य दूर होता रहता ना बीच बीच में है जी जब हम छोटे छोटे बालक थे ना और ज्वर आ जाता तो माताएं गुड़ लपेट के कुनेन की गोली पर और हमको खिला देती जो चबाने लगते तो भयंकर लगता तो ये कुनेन की गोली आपको मीठा मीठा मीठा बना करके कुनेन की गोली खिला रही तो मैंने क्या बदलाया था क्या बात थी उसको याद करो वो जो दुख आता है नहीं आना चाहिए कहां तक यदि हमारे तपस्या में विद्या में साधना में बाधा डालता है तो उसको नहीं आना चाहिए परंतु एक भाग दुख का इतना अनिवार्य है उसको अवश्य आना चाहिए ठंड तो लगेगी ही ये कुछ न कुछ आपको या बिना ठंड के रहोगे तो गर्मी भी कुछ न कुछ लगेगी और लगनी भी चाहिए यदि व्यक्ति ठंड को नहीं सहता तो जीवन तपस्वी होगा ही नहीं आवश्यक हो गया एक सीमा तक यदि वो गर्मी को नहीं सहता एक सीमा तक तो जीवन में तपस्या आएगी ही नहीं यदि व्यक्ति अपमान मान को नहीं सहता तो जीवन में अपमान मान सहने की शक्ति आएगी ही नहीं किसी व्यक्ति को सम्मान तो मिला मिलता रहा और कभी अपमान नहीं मिला और उसको मिल जाए तो वो सहन नहीं कर सकेगा एक युवक योग ने आए सिंहपुरा गुरुकुल में जब मैं रहता था उसके पास में कंबल नहीं था उड़ने के लिए हमने एक पुराने ढंग का कंबल दे दिया जो कुछ पुराना था बिल्कुल ऐसा ताजा तो था नहीं और बीच में खेलने का मैदान है उस और कमरे हैं उस और हैं मैंने कहा कि ये कंबल ले जाओ और वहां जाके सो जाना आप उन कमरों में और बीच में भी हम जारी व्यायाम आदि करते कराते हैं उस समय उन्होंने कहा कि मैं इनकी सब के पीछे कंबल लेकर के नहीं जा सकता भाई कुछ पुराना कंबल है कहेंगे ये क्यों ले जा रहा है इसके बेचारे के पास था ही नहीं उसके प्राण निकल रही इसी में वो क्या योगाभ्यास करेगा कई माताओं को कहें माताओं आप होगी साठ वर्ष की सत्तर वर्ष की ये सोने की चूड़ी और ये निकाल दो कहते महाराज जी ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता अब ये ब्रह्म विद्या कैसे सीख लेंगे ये क्यों दूसरे लोग हमको कंगाल कहते हैं अब ये तप नहीं कर सकती तो ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती अब क्या ब्रह्म विद्या प्राप्त करेगी जो जिसको सिखाने वाले गुरु आचार्य कहते हैं इनको निकाल दो और वो लोग लोगों के अपमान से डर करके वो निकाल नहीं रही फिर देखो हम कहते माता सफेद कपड़े पहन के आया करो कहते जी फकीर से लगेंगे <laughs> फकीर से दिखाई देंगे भिक्षुक भिखारी जैसे दिखाई देंगे क्या कहेगी दुनिया उनका पत्थर मारो इस अपनी पीछे इसको <laughs> तो क्या कहेगी खोपड़ी ठीक हो जाएगी डंडे मार मार करके एक खोपड़ी को ठीक कर लो इसमें सारा मल भरा पड़ा है दुनिया भर का ये छोटा सा बच्चा होता तब भरने लगता है मैल को राग द्वेष ये वो तो ये जो अंश मैं आपको सुना रहा हूं जो हमारे शरीर को बाधित नहीं करता जो हमारे मन को बाधित नहीं करता वो कष्ट वो तप आवश्यक रहता है अर्थात हम इतने दुखी हो जाए वो मधुमक्खी उठा दी ना आज डरना नहीं वैसे खतरे की चीज नहीं है <laughs> वो, वो, वो कल आई थी ना बहुत सी मक्खियां तो आज वहां से उठाई बताते तो उसमें जब वो मक्खियां दो चार काट लें आपको है जी और आपका मुंह हो जाए ऐसा इंडिया जैसा <laughs> और वो और वो ध्यान ही न हो पाए ना आंख देख पाए पढ़ाई के लिए क्या लिखा है तो ऐसी तपस्या तो ऐसी तपस्या तो बाजा डाल रही ऐसी तपस्या तो जो है खतरनाक है इसलिए जितनी तपस्या सह सकते हो शरीर रोगी न होए मन भी अति दुखी न हो पाए तो उतनी तपस्या उसमें होनी चाहिए और इसका अभ्यास करना पड़ता है अभ्यास जानबूझ के भी करना पड़ता है एक तो अभ्यास हो जाता है साधारण रूप से यदि ऊंची स्थिति में जाना हो तो जानबूझ के अभ्यास करना पड़ता है कैसे आपको दे दिए अंगूर बांटने के लिए है जी किसने बांटे थे आज अंगूर आपने बांटे थे अब वो जो अंगूर बांटने लगता है ना जब देखता है कि अच्छे अच्छे कौन से हैं तपस्वी नहीं होगा तो मन के अंदर कमजोरी होगी तो अच्छे अच्छे वो अलग रखता जाएगा बांटता जाएगा अलग रखता जाएगा और फिर टक्कर लेनी होगी विचारों से मेरे ये अशुभ विचार है कुविचार है बिल्कुल नहीं इनको पहले बांटूंगा मैं वो इससे जानबूझ के लड़ाई करना अपने गलत विचारों से जानबूझ के लड़ाई करना जानबूझ के बुद्धिपूर्वक कि इसको मैं मिटा के छोड़ूंगा ये जानबूझ के युद्ध करना पड़ता है और जानबूझ के हर्ष से युद्ध करता वो जीतता है और जो जानबूझ के युद्ध नहीं करता वो अपने मनेन्द्रियों को नहीं जीत सकता नहीं जीत पाएगा कई बार खाम खाम कोई गाली देने आरंभ कर देता अपमान करता है बिना ही कारण के अपमान <laughs> आम घबराना नहीं किसी बात से एक दिन एक माता जी मुझे खूब अफसोस बोलती गई खूब बोलती गई खूब बोलती गई मैं सुनता भी गया और हंसता भी गया अब भाई मैं रो करके दुखी होकर सुनता तो अच्छा नहीं था वो मैं हंसता भी गया और सुनता भी गया और मैं सोचता था ये बड़ी मेरी तपस्या हो रही है मैं ये सोचता था ऐसा सोचता तो मुझे कोई द्वेष नहीं कोई दुख नहीं बल्कि बेचारी वही दुखी हुई अंत में <laughs> लगी यो कह तो गाली देने लगी मैं सुनता रहे हाथ चलते गए मथुरा तक तो क्या हुआ एक जिसको कहते ना गुणाक्षर न्याय तुकबंदी वो माता जी शौचालय की ओर गई होगी गई पैर फिसल गया धड़ाम से ये ये घुटना फटा या टूटा या यहां से चोट लग गई तो फिर क्या हुआ लोगों ने कहा कि वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए वाणी कटु वाणी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए माताओं ने ये कह दिया होगा आपने सुना कि तू साधु को गाली दे रही थी ना वो <laughs> सन्यासी को अपशब्द बोलते थे निकला ना सारा परिणाम <laughs> तो वो मैंने तो कुछ नहीं कहा मैं भी झगड़ता तो मैं भी खराब मेरा भी मन खराब हो जाता तो मैं तो हंसता ही रहा सुनता रहा तो दिल्ली पहुंचे तीन बजे के लगभग रात्रि में और वो माता जी कहने की स्वामी जी मुझसे भूल हो गई आगे कभी नहीं करूंगी ऐसा और उसने क्या किया कल हमारे घर पर भोजन करना मैंने कहा क्यों आप जरूर करना मैंने कहा कोई बात नहीं खीर बनाऊंगी खूब अच्छी तो खीर भी खाई और तप भी हो गया और माता जी को ना खीर मिली अच्छी तरह से और वो दुखी हो गई अब ये एक सोचने का ढंग है अब सोचने का यदि विज्ञान आपको आ जाएगा तो अनेक समस्याओं का समाधान आप करते चले जाएंगे एक विज्ञान है विचार करने का एक ढंग पद्धति है सोचने की वो यदि सोचने की पद्धति आ जाए व्यक्ति को तो मोक्ष का भागी बन जाता और विचार में यदि दोष है वो रीति विचार की ठीक नहीं है उसमें त्रुटियां हैं तो बंधन को प्राप्त होता है व्यक्ति इसलिए यह पाठ किया जाता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो मन एवं मनुष्याणाम मन ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष का कारण है ये ऐसा कहा जाता है महर्षि दान सरस्वती जी ने मुक्ति के जहां साधन लिखे वहां पर एक शब्द है सुविचार सुविचार मुक्ति का साधन है और कुविचार बंधन का साधन है ऐसा जानना चाहिए सुविचार की बड़ी लंबी व्याख्या होनी चाहिए उसमें कितने ढंग से सोचता है व्यक्ति कैसे सोचता है व्यक्ति यदि पढ़ते रहो ना आप तो पचास वर्ष पढ़ो तब आपको कुछ कुछ समझ में आएगा सोचने का ढंग सोचने की पद्धति ये नहीं आती सारा संसार इसलिए दुखी है कि उसको विचार नहीं करना आता इसलिए ये जो मैंने अंश सुनाया कि हम जो ब्रह्म विद्या को सीखने आए हैं तो समझना चाहिए कि विविध प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे और उनमें से जो हमारे कार्यों में बाधक होते हैं बिल्कुल अवरोध कर देते हैं उनसे तो बचना ही पड़ता है कभी कभी आ भी जाते हैं पर आने पर उनके आने पर भी घबराना नहीं चाहिए देखिए एक व्यक्ति को भयंकर ज्वर आ गया और उसको वो ध्यान भी नहीं कर सकता पाठ भी नहीं पढ़ सकता यदि वो अधिक घबराता है अधिक चिल्लाता है तो वो रोग जो है वो उसको अधिक प्रभावित करेगा वो दुख उसको अधिक प्रभावित करेगा कभी देख लेना और दुख प्रभावित करता करता व्यक्ति का हृदय गति बंद हो जाती है वो दुख ही तो है व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर मानसिक मानसिक इतना प्रभाव पड़ता है मौत हो जाती है मौत नहीं होगी व्यक्ति की दिल्ली में बाढ़ आई आदर्श नगर ईश्वर का जो भाग था वो इतना भयंकर रूप से भर गया बताते उस समय एक अपनी भजन मंडली थी ब्रह्मचारियों की विवेक जी और ये राज सिंह जी जगदीश जी एक ब्रह्मचारी भजन मंडली नाम से प्रसिद्ध थी उस समय ये गांव जाके आए बाहर से तो घर जो था वो पानी में मिला नहीं समझे आप बताते तैर तैर के घर पहुंच गए <laughs> तो ये अवस्था हुई उसमें मॉडल टाउन उसी के साथ है बताया जाता है किसी के घर में चने की बोरी भरी हुई थी भंडार अपने खरीद के रख रखे थे और चने में पानी भर गया भर गया तो चने का तो स्वभाव है आप खाते रहते ना वो कुप्पा हो जाता है फूल करके तो वो जो बोरी कुप्पा होगी तो उसने धड़ाम से कोठी को फाड़ दिया और जिसकी कोठी फटी थी ना उसको पता चल गया मारा उसे उसको कुछ भी नहीं किसी ने ना लाठी मारी ना थप्पड़ मारा कुछ नहीं इतना ही तो था कि तेरी कोठी फट गई बाय बताते हो मर गया ऐसा सुना ये मानसिक प्रभाव कितना दुख है परंतु योगाभ्यास में क्या होता है वो विचारना जानता है वो सोचना जानता है तो वो विचारना जानता है तो मानसिक क्लेश नहीं होता उसको और वो बच जाता है कैसे उसने ये सोचा ये धन संपत्ति जो है मेरी नहीं है ईश्वर की है वास्तव है भी ऐसा ही मैं इसका रक्षक हूं मैं इसका पालक हूं मैं इसका सदुपयोग करने वाला हूं ईश्वर ने मुझे दी है अपने और दूसरे के कल्याण के लिए इसका मैं प्रयोग करूंगा इतना मेरा अधिकार है ये ये मेरा धर्म है पर ये ईश्वर की ही संपत्ति है मेरा जब जन्म नहीं हुआ था तब मेरे पास में कुछ भी नहीं था और मैं आज ही मर जाऊं तो मेरे पास में एक दाना भी नहीं जाएगा या जाएगा है जी आपने पीछे घटना सुनी थी विमान दुर्घटना जिसमें बिरला का बहुत बड़ा परिवार माना जाता कितने सदस्य थे चार थे पांच थे मुझे पता नहीं वो दुर्घटना में वो अरबपति होंगे जो भी कुछ होंगे वहीं वो सारे खत्म और एक कौड़ी नहीं ले गए इंदिरा गांधी को देखो फलाने को देखो इसको देखो इतनी देर लगती है यदि वो उसका था तो साथ जाना चाहिए था और नहीं था तो नहीं गया ज्ञान जीवात्मा का अपना गुण है वो उसके साथ चला जाता है अब देखिए सोचने का ढंग पद्धति है उसने यदि ये विचार समझ लिया कि ये सारी चीजें ईश्वर की हैं मैं आया था तो तो भी मेरे पास नहीं थी और चला जाऊंगा तो भी नहीं आएंगी ये चली गई और इनमें ये भी विचार का ही भाग है जो चीज आती है वो जाती है संयोगा संयोग जिसका होता है उसका जो व्यक्ति ये समझ गया है कि जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है उसको दुख नहीं सताता सब जगह लागू होगा ही संयोग और वियोगांता संयोग जो होगा वो वियोग उसका निश्चित है जिसके दिमाग में यह हो गया कि संयोग हुआ तो वियोग निश्चित होगा वो पहले से ही जानता है तो वियोग होने पर उसको कष्ट नहीं होता इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए व्यक्ति को विविध प्रकार का कष्ट सहना और उसके सोचने के ढंग और पद्धति बिल्कुल अलग होती है आप इसमें पूरा प्रयास करिए और इसका ध्यान रखना ये जैसे विवेक जी सुना रहे थे ऐसा भी हो सकता है जो माताएं डरती नहीं और आप भूषण भी के हाथ में नहीं होता लाठी रखो एक करदीप रखो और ये खेत पड़े हैं खाली अपना लोटा लेके पांच छह दिन ही जाओ लाठी ले गए हाथ में और ईश्वर सो हो जाओ हो जाओ तो यहां थोड़ा ही खड़े रहने से काम चलेगा आधा घंटा में सोचो कि वहां से आ जाएंगी जो जो युवावस्था की है जो वृद्ध माताएं हैं वो यही हो जाए मेरा मतलब ये भी समाधान है अब खड़े रहने से क्या वहां दक्षिण भारत में जाते हैं ना वहां सारी माताएं लगभग शौचालय वहीं तक तो जंगल में जाती हैं कुछ भी नहीं जो जो तगड़ी है और लाठी भी रखनी चाहिए और ये भी रखना चाहिए अरे एक मैं कमंडलू पात्र और इकट्ठे जाना इकट्ठे आना ये ध्यान रखना तो बहुत सा समाधान इससे हो जाएगा और कमरे में भीड़ हो तो अपने यहां तंबू वंबू तान देंगे एक दो तो उसमें जगह बना लेंगे रहने की बात कुछ भी नहीं है न सर्दी इतनी है और इस रूप में रहेंगे और अपनी चीजों को रखना ध्यान से कई बार बाहर के लोग आके चोरी कर लेते हैं उनको यही अवसर मिलता है और माताएं पहले तो आप उसने पहन के नहीं आना था हमने मना कर दिया था और है तो अपना उतार के उसको सुरक्षित रख दो और हमारे यहां देखो कोना है ना वो रखा कोने में क्या खड़ी है, है? अब वो आपके लिए ही है आपके लिए का दो अर्थ होते हैं <laughs> आपके लिए का क्या अर्थ है दो अर्थ है ना जी आ जाए तो उसके सर में मारना हमको उठा दे तो आपके लिए है तो लाठी अपने हाथ में रखनी चाहिए अब वो कौन थी वो लड़की ना हाँ जी ज्योति खड़ी हो ये कहने लगी स्वामी जी ये लाठी क्यों रखते हो ये कहने लगी मेरे का कुत्ता आ जाता है कई बार काटता है पानी में से कूदना हो अंधेरे में चलना हो कहती अच्छा बहुत काम है इसके तो मैंने कहा बहुत काम है लाठी <laughs> बिजली चली जाएगा आगे लाठी टेकते चलो पैडियों में लाठी आगे बताती जाएगी पानी में घुसना हो पानी में आगे चलते फिर कभी तो राम से डूब जाए उसमें लाठी आगे चलते जाओ देखते जाओ लाठी आगे चलते देखते जाओ ये कुत्ता काटता है कई बार गिद्ध आ जाए भेड़ी आ जाए लाठी आसम होती है तो एक बार जंगल में मैं गया लाठी मेरे हाथों दो कुत्ते टूट पड़े मेरे ऊपर तो मैंने बड़ी जोर से घुमाई वो काट नहीं सकी नहीं तो काट जा खा, खा जाते तो इसलिए लाठी रखते हैं अब इसको यहीं पर विराम दिया जाता है